फिर जब उसके यहाँ लड़की पैदा हुई तो उसने अर्ज़ किया ए मेरे रब मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई है और अल्लाह खूब जानता है कि उसके यहाँ क्या पैदा हुआ है और मेरा मतलूब लड़का अल्लाह की दी हुई लड़की की मिसल नहीं हो सकता और मैंने उसका नाम मरियम रखा और मैं उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूत के शर से तेरी पनाह में देती हूँ